नहीं ये नहीं हो सकता जब अनुष्का ने मर्डर का नाम बताया तो फिर एक बार के लिए समन्ता को विश्वास ही नहीं हुआ वो कैसे हो सकता है क्यों कुक बहादुर को भी सेम यही फीलिंग आ रही थी वो भी काफी हैरत में था वो तो बहुत सीधा साधा आदमी था वो भला कैसे मर्डर कर सकता है ये कौशिक ने खुद बताया अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो फिर ये बात गलत नहीं है अनुष्का ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा मर्डर फिल्म में काम करने वाला साइड एक्टर प्रसाद है जो कि अभी गायब चल रहा है प्रसाद उम्र 27 साल actor Pune school of art से ग्रेजुएट ज्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करता है घर हैदराबाद में है हर्षित ने स्क्रीन पर प्रसाद की डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए कहा विक्रांत बड़े ध्यान से हर्षित की बातें सुने जा रहा था प्रसाद के बारे में जैसे जैसे उसे चीजें पता चल रही थी वो काफी गहरी सोच में डूबता जा रहा था आज तक विक्रांत के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी केस का मुजरिम इतनी जल्दी सामने आ गया हो कातिल का इतनी जल्दी पता लगाना उसे काफी अजीब लग रहा था विक्रांत को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा इत्तेफाक दयाकर गायब है इस वक्त जबकि कौशिक ये कह रहा है कि प्रसाद ही मर्डरर है आखिर इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है वेल वो तो मुझसे भी छोटा है अभी तो बच्चा था वो समंता ने कहा जब हम शूटिंग कर रहे थे हमारा किसिंग सीन था तब उसका मुंह भी ढंग से नहीं खुल रहा था कांप रहा था उसका शरीर और जब मेरे लिप से उसका लिप टच हुआ था तब भी वो बहुत घबराया घबराया सा लग रहा था समन्ता ने फिर से सिगरेट के धुएं से चल बनाते हुए और चेहरे पर कुछ कंफ्यूजन वाला भाव लाते हुए कहा ये तो बहुत शर्मिला लड़का था ये भला कैसे मर्डर हो सकता है बहादुर ने भी समंता की बात से सहमति जताते हुए कहा यह लड़का तो हमारी क्रू में नया ही था तो फिर उसने एक साथ इतने लोगों का मर्डर भला क्यों किया जैसे बहादुर ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही विक्रांत का फोन बज उठा ये फोन यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर अशोकन का था विक्रांत ने उसकी आवाज सुनते ही अंदाजा लगा लिया कि इंस्पेक्टर अशोकन इस वक्त काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे सर अभी अभी हॉस्पिटल वाला ने कोई न्यूज दिया हुआ है अशोकन ने बेहद उत्साहित होते हुए कहा वो जो इंजर्ड आदमी था वो मर्डर का नाम बोला है उसने बोला कि मर्डर का नाम प्रसाद है तो अभी मैं प्रसाद के नाम का अरेस्ट वारंट बनवा लू विक्रांत कुछ पल तक इस बारे में सब सोचता रहा और फिर उसने कहा ठीक है पहले तुम फटाफट इस आदमी को ढूंढना शुरू करो अच्छा अभी तक तुम्हें कुछ पता चला सर हमें स्पीड बोट मिल गया है इसे शहर से काफी दूरी खड़ा किया था वो लोग उस एरिया में ज्यादा कैमरा वगैरह भी नहीं है तो इस वजह से ढूंढने में दिक्कत हो रहा है लेकिन हम लोग ढूंढ रहा है जल्दी ही मिल जाएगा अशोकन ने जवाब दिया फिर उसने आगे कहा लेकिन अब हम बिल्कुल श्योर हो गया है कि इसका ड्राइवर जो है वो प्रसाद ही था हमने पूरा त्रिवेंद्रम कवर कर लिया है हमने उधर हैदराबाद में दया करके घर पर भी एक टीम भेज दिया है मैं तो कह रहा आप बस ये कंफर्म कर दो कि इसी लड़के ने ही मर्डर किया है हम बहुत जल्दी उसे पकड़ कर ले आएगा गुट विक्रांत ने जवाब दिया फोन रखने के बाद विक्रांत फिर से सोच में डूब गया फिर वो मुड़कर अनुष्का की तरफ देखते हुए बोल पड़ा तुम एक बार फिर ये हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करो और वहाँ से कौशिक का मेडिकल रिकॉर्ड पता करो अनुष्का ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन भरे लफ्जों में कहा सर क्या आपको ये शक हो रहा है कि कौशिक झूठ बोल रहा है विक्रांत ने तुरंत ही अपना संदेह जाहिर करते हुए कहा मुझे अभी सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है एक साथ छह लोगों को मारना कोई आसान काम नहीं है जिस तरीके से इन लोगों को मारा गया है वो किसी मामूली आदमी का काम नहीं है कोई प्रोफेशनल मर्डरर ही इतनी निर्ममता से मर्डर कर सकता है और दूसरी बात मर्डर करने के बाद इस तरह कई सारे क्लू छोड़ना भी मामूली काम नहीं है विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा कौशिक को बॉडी में चाकू के कई सारे वार देखने को मिले हैं ऐसी कंडीशन में भला मर्डर ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया फिर मैं मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने जा रही हूँ लेकिन एक और चीज अनुष्का ने अपने शब्दों को कुछ पल का विराम देते हुए कहा अगर हम कौशिक के ब्लड रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चल सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ अगर उसकी भी बॉडी में पॉइजन मिलता है तो फिर इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें उससे सीरियसली बात करने की जरूरत है जब अनुष्का मेडिकल रिकॉर्ड की बात कर रही थी तभी विक्रांत ने समंता और बहादुर से प्रसाद के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया लेकिन दोनों को इस नए एक्टर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था बस वो इतना ही बता रहे थे कि प्रसाद ज्यादातर अपने कानों में हेडफोन लगाकर घूमता रहता था बहुत कम ही किसी से बातचीत करता था अच्छा तो ये कौशिक कैसा था इसके बारे में कुछ बताओ विक्रांत ने फिर तुरंत ही हॉस्पिटल में सीरियस इंजर्ड पड़े विक्टिम के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया हम्म, वो तो काफी सारे काम करता था लाइटिंग साइड कैमरामैन की हेल्प सब कुछ करता था इस बार समन्ता के बोलने से पहले ही बहादुर ने जवाब देना शुरू कर दिया ये आदमी नेचर से भी ठीक था सब इसको लाइक करते थे डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर सब उसको काफी पसंद करते थे लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये आदमी क्यों फेस वाला था समन्ता ने बीच में बोलते हुए कहा ये सामने से कुछ और था और पीठ पीछे कुछ और पीठ पीछे ये क्या करता था कोई नहीं जान सकता क्या मतलब विक्रांत ने सवाल किया सर ये रही रिपोर्ट ठीक इसी समय अनुष्का ने बीच में बोलते हुए कहा आप ठीक कह रहे थे कौशिक की इंजरी वाली स्टोरी थोड़ी गड़बड़ लग रही है मर्डर ने उसकी बॉडी में सात बार चाकू से वार किया था लेकिन फिर भी उसके एक भी ऑर्गन डैमेज नहीं हुए थे ओह यह सुनकर विक्रांत हैरत भरी नजरों से कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने लगा अनुष्का ने आगे बताते हुए कहा सोचिए किसी की बॉडी में सात बार चाकू घोपा गया है उसके बाद भी वो इंसान जिंदा है ये कितनी अजीब बात है ना अगर ऐसी बात है तो विक्रांत कुछ सेकंड तक सोचता रहा और फिर बोल पड़ा तो या फिर कौशिक की किस्मत बहुत अच्छी है या फिर कातिल ने इंटेंशनली उसे जिंदा छोड़ दिया है लेकिन क्यों कातिल भला ऐसा क्यों करेगा हर्षित ने अचानक से सवाल किया